जानहुतात् तरणी कुलरे सत्यसन्ध किरति प्रीति लाज लाजगुरुजन के उदासीन हित अनहित मन की तुम ही विदित सब ही कर कर मो आपन मोर परम हित धर मो मोहि सब भारती भरोस तुम्हारा तदपि कहूँ अब सरयनुसार हे तात तुम सूर्यकुल की रीति को सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को समय समाज और गुरजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ तात तात बिन बात हमारे केवल कुर गुर कुल कृपा संभारी न तरु प्रजा परि जन परिवार हम ही सहित सब हो तुआरु जो बिन अवसर अथव दिनेशो जग के ही कहु न हो ही कलेशो दस उत विधि के मुनि मिथिलेश राख सबुले हे तात पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु गुरु गुरुवंश की कृपा से ही संभाल रखी है नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा हेतात उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया राज काज सब लाज पते धर्म धरणी धन धाम गुर प्रभाव पाल सब ही भल हो ये परिणाम राज्य का सब कार्य लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा सहित समाज तुम्हार हमारा घर बन गुरु प्रसाद मात पिता गुरु स्वामिनिदेशो सकल धर्म धर निधर से सो तुम करहु करावहु मोहे तात तरणी कुल पालक हो साधक एक सकल सिद्धि देने कीरति सुगति भूतिमय बेनी गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्मरूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है हे तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुल के रक्षक बनो साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है सोविचार सहे संकट भारे करहु परे वारु सुखारे बाटी विपते सबहि मोहि भा तुमहि अवधि भरे बड़ी कठिनाई जानहि मृदु कहमु कठोरा कुसमयतातन तन अनुचित मोरा ओहि कुठाय कुबन्धु सहा उडियहि आसन के धाय। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो हे भाई मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है परंतु तुमको तो अवधि चौदह वर्ष तक बड़ी कठिनाई है सबसे अधिक दुख है तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ एतात बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है कुठौर कुअवसर मैं श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं बद्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं सेवक पद नयन से मुख सो साहिब हो तुलसी प्रीत किरीत सुने सुकब सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं